नमस्कार मित्रों आज का जो वीडियो है वो मैं कुछ इनफॉरमेशन देना चाहता हूं और उस इनफॉरमेशन के जरिए मैं एक व्यू आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये कि जो अरविंद भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी बन रही है उसका एकमात्र मकसद है मोदी साहब के वोट काटना और पूरा जो पब्लिसिटी कैंपेन हो रहा है वो भी उसी एंगल से हो रहा है कि मोदी साहब के वोट किस तरह से कटे या तो एंड में 2000 मई 2004 में जो स्पॉन्सर है आम आदमी पार्टी के मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह वो मजबूर कर सके कि भाई आप इतनी इतनी सीटें हमारे इतने इतने एजेंटों को दो तो हम अरविंद भाई को कवरेज कम देंगे और कम वोट कटेंगे तो कौन से पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा और दूसरा कि भाई इससे मुझे क्या लेना देना बीजेपी हारे कांग्रेस जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं कि मैंने एमपी को जो एसएमएस भेजा एसएमएस से हुक्म भेजा वो ये कि आप पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखो स्पीकर को आप ऑर्डर दो कि वो पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखे कि मोदी साहब को पीएम बनाना चाहिए और वो जब प्रस्ताव पार्लियामेंट में आए तब मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि आप हां में वोट डालना पर यहां पर बात खत्म होती है जब इलेक्शन आएंगे तो मैं खुद इलेक्शन लड़ने वाला हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितने किसके कितने वोट आते हैं तो फिर मुझे आम आदमी पार्टी को और अरविंद भाई को एक्सपोज करने की क्या जरूरत है तो वो भी मैं बताऊंगा कि जो मुख्य इससे नुकसान हो रहा है वो व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पे हो रहा है कि जो कार्यकर्ता भारत में एक बात को अप्रिशिएट करते थे कि भाई बीजेपी या कांग्रेस वो सॉल्यूशन नहीं है सॉल्यूशन है देश में अच्छे कानून लाना वो सब गुमराह हो रहे हैं ये सोच के कि भाई अरविंद भाई अच्छे कानून भारत में लाएंगे और इसलिए वो उनके पीछे भाग रहे हैं और उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और उसके मैं एक और एग्जांपल दूंगा चिरंजीवी का एग्जांपल आंध्र प्रदेश के कि किस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को टाइम उनका टाइम वेस्ट किया और वो टाइम वेस्ट कम हो यानी कि जो कार्यकर्ता व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं जिसको बीजेपी को हराना है वो आम आदमी पार्टी के पीछे भाग रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है उनका मकसद ये सिर्फ बीजेपी को हराना तो उनका मकसद उनको मुबारक लेकिन जो कार्यकर्ता व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे कि अच्छे देश में अच्छे कानून बने वो राइट टू रिकॉल का कानून हो या Jan Lokpal with right to recall Jan Lokpal का कानून हो या वेल टैक्स का कानून हो वो एक ऐसी पार्टी या ऐसे शख्स के पीछे ना जाए जिसका एकमात्र मकसद और पूरा उसका कैंपेन का एकमात्र मकसद हो कि मोदी साहब के या बीजेपी के वोट काटना तो अब मैं एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको देता हूं वो है 25 मई का पेड हिंदुस्तान टाइम्स मैं सारे अखबारों को पेड ही बोलता हूं paid Times of India paid Hindustan Times paid Frontline वो पेड है और उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए कि उनको कोई पेड कहा जाए तो तो 25 मई का अंग्रेजी हिंदुस्तान टाइम्स फ्रंट पेज पहला पन्ना आप पेज नंबर यहां पे ये फ्रंट पेज ही है साफ साफ दिख रहा है फ्रंट पेज का न्यूज है Aam Aadmi Party religious list of Delhi polls Arvind भाई की फोटो है आम आदमी की टोपी पहन रखी है और बिल्कुल सेंटर में है मतलब अंधे को भी दिख जाए भले ही छोटा कवरेज दिया है बड़ा आर्टिकल नहीं दिया लेकिन अंधे को भी दिख जाए और नीचे लिखा है पेज फोर पे और पढ़िए तो अंग्रेजी एडिशन में फ्रंट पेज पे आम आदमी पार्टी का न्यूज कैंडिडेट रिलीज कर रहे हैं और उनकी फोटो 25 मई का पेज फोर हिंदुस्तान टाइम्स आधा पेज भर के आम आदमी पार्टी को कवरेज दिया है पूरा फोटोग्राफ दिया है अरविंद भाई का फोटो आम आदमी पार्टी की टोपी सब कुछ अब वही अखबार के वही मालिक उनका जो हिंदी एडिशन है उसमें क्या छापते हैं आपने अंग्रेजी एडिशन में देखा कि फ्रंट पेज पे उनका फोटो है फोर्थ पेज के आधा पेज भर के है अब ये हिंदुस्तान टाइम्स है वो कांग्रेस का चमचा मतलब वो मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे पे चलता है पर वो कांग्रेस से उसका ज्यादा गठबंधन है बिरला फैमिली का कांग्रेस के साथ कांग्रेस से भी ज्यादा पुराना संबंध है अठारह तक जाता है पच्चीस मई का Hindustan Times Hindi front page पे पूरे पेज पे कहीं आम आदमी पार्टी का मेंशन नहीं है अरविंद भाई की फोटो भी नहीं है यहाँ साइड में जो छोटी खबरें होती है वहां पे भी कहीं आम आदमी पार्टी का मेंशन नहीं है अरविंद भाई का मेंशन नहीं है हिंदी हिंदुस्तान टाइम्स 25 में वही तारीख उसने मेंशन भी नहीं किया आम आदमी पार्टी के बारे में और पेज फोर पे भी कुछ नहीं है लेकिन पेज सिक्स पे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है कितना वन बाई फोर्थ पेज ये एक चौथाई पेज है सॉरी हाँ एक चौथाई पेज यानी आधे का आधा आधे का आधा पेज और वो पेज सिक्स पे है यानी कितना कम इंपॉर्टेंस दिया अखबार में जब आदमी पेज पलटता है तो बहुत सारे 70, 80, 90 परसेंट को पॉलिटिकल न्यूज के डिटेल्स में इंटरेस्ट नहीं होता फ्रंट पेज पे थोड़ा न्यूज होगा तो वो वो फोर्थ पेज पे जाएगा लेकिन यदि फ्रंट पेज पे है ही नहीं तो वो सिक्स पेज पे जाने की संभावना वन टेंथ से कम हो गई पेज फोर और पेज सिक्स में अंतर कितना होता है रीडरशिप सीधी आधी हो जाती है साइज यहां पे डबल दिए यहां पे एक चौथाई पेज दिया या आधा पेज दिया यानी इसको यदि आप एक पॉइंट देते हो तो इसका इंपॉर्टेंस हो गया मिनिमम चार पॉइंट और फ्रंट पेज और न्यूज दिया भले ही छोटी साइज का है लेकिन फोटोग्राफ और सेंटर में इसका इंपॉर्टेंस हो गया दस पॉइंट और इसमें यहां पे पेज फोर पे और पढ़िए लिखा हुआ है इसलिए इसका इंपॉर्टेंस हो गया एट पॉइंट्स यानी ये 10 पॉइंट ये 8 पॉइंट 18 पॉइंट और इस पे वन फोर्थ और वो भी पेज सिक्स पे यानी अंग्रेजी अखबार वही अखबार वही मालिक पेड हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश और ये पेड हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी इसको 10 गुना 20 गुना 18 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है तो ऐसी क्या बात है कि अंग्रेजी पढ़ने वालों को ये ज्यादा फोटो दिखाई जाती है ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है पेड हिंदुस्तान टाइम्स और इनको कम दे रहा अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अरविंद भाई ने पैसा दिया उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान टाइम्स को खरीद सके वो पैसा कोई और दे रहा है वो कौन दे रहा है क्यों दे रहा है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन कराऊंगा तो सबसे पहले भारत में वोटर कितने हैं करीब अस्सी करोड़ अभी जो 2014 में चुनाव होंगे उसमें करीब करीब 80 करोड़ वोटर वोट डालेंगे एजुकेटेड मिडिल क्लास कितने हैं करीब करीब 15 करोड़ उसमें से कितने लोग वोट डालेंगे 70 परसेंट कहा जाता है क्योंकि अब मिडिल क्लास का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है इस बार गुजरात में 75 परसेंट था अभी जो इलेक्शन हुए तो 70 परसेंट यानी करीब करीब साढ़े दस करोड़ ग्यारह करोड़ एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर वोट डालेंगे पंद्रह करोड़ में से अब मैं आपको एक सर्वे करने को बोलूंगा शायद सर्वे की जरूरत नहीं होगी यदि आपने ऑलरेडी कर लिया हो तो कि आप दो फोटो सामने रखना एक मोदी साहब की फोटो और एक राहुल भाई की फोटो राहुल गांधी या कि भाई पीएम चुनना है और आप दोनों में से किसको वोट देंगे और वो नन ऑफ द अबाव वाला आर्ग्यूमेंट यहां नहीं चलेगा क्योंकि पीएम की कुर्सी खाली नहीं रह सकती पीएम की कुर्सी खाली रही तो हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान चीन अमेरिका उनको फायदा हो जाएगा यहां तो आदमी को डिसीजन लेना ही लेना है तो एक आम आप यूट्यूब का ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 70-90 परसेंट प्रॉबेबिलिटी है कि आप एजुकेटेड मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं क्योंकि मेरा पेड मीडिया तो ये सारे समाचार छपता नहीं है मेरे वीडियो के बारे में अधिकतर यूट्यूब पे जाता है फेसबुक पे जाता है तो अभी मेरा रीच एजुकेटेड मिडिल क्लास तक ही है तो आपके जो दोस्त है अधिकतर 100-200 जो दोस्त होंगे आपके फ्रेंड लिस्ट में या आपके नेबर हो या स्कूल के दोस्त हो कॉलेज के दोस्त हो वो भी अधिकतर एजुकेटेड मिडिल क्लास से आते हैं आप उनको पूछना कि भाई मोदी साहब और राहुल गांधी या हो सकता है प्रियंका या पीएम कैंडिडेट प्रियंका गांधी बन जाए या पीएम कैंडिडेट चिदंबरम हो मनमोहन सिंह को भी रिपीट करने की बात हो सकती है मतलब सोनिया गांधी के संतान होगी या सोनिया गांधी का कोई सुरपंखा गांधी का कोई चमचा होगा दो में से कोई एक पीएम कैंडिडेट होगा तो इसमें से किसको वोट देंगे तो ये जो 11 करोड़ मिडिल क्लास वोटर जो वोट डालने की संभावना है उनमें से करीब 9 करोड़ मिनिमम आपको बोलेंगे कि भाई वो वोट मोदी साहब को देंगे आपके 100 लोगों के सर्कल में पूछ लो कि आप राहुल गांधी और मोदी में किसको वोट देंगे तो शायद इसको तो दो चार गालियां भी दे दे 70-80 परसेंट लोग इसको वोट देंगे सूर्यपंखा गांधी के बेटे बेटी या उसके चमचे को वोट बहुत कम लोग देंगे तो अब मान लो सुरपंखा गांधी आपको आके कहती है कि ये लो हजार का नोट और वोट कांग्रेस को देना तो आप क्या करोगे हजार का नोट रख लोगे लेकिन वोट तो आपको जिसको देना है उसी को दोगे वहां तो कोई पुलिस खड़ी नहीं है आप पे ऑब्जर्वेशन रखने के लिए कि ये देखने के लिए आपने किसको वोट दिया ईवीएम <coughs> e से मैन्युपुलेशन हो सकता है लेकिन वो पंद्रह बीस परसेंट सारे के सारे बीजेपी के वोट यदि कांग्रेस में डाल दिए ईवीएम e को रिमोट कंट्रोल से तो पोल खुल जाएगी तो किस तरह से वोट कम किया जाए यदि आपको हजार का नोट दिया तो वो पानी में गया आप वोट तो फिर भी जाके यहीं गए दोगे इसलिए फिर ये टेक्निक आती है जो कि 800 साल पुरानी है कि यही आपके middle class voter educated middle class voter के फ्रेंड को पूछो कि भाई आप इसमें और इसमें पीएम को वोट किसको देना है तो जो 9 करोड़ लोग यदि ये ना दिखाए पूछा जाए कि किसको वोट देना है इसमें से नौ करोड़ में से नौ ग्यारह में से नौ करोड़ लोग जो मोदी साहब को वोट देने वाले थे उनमें से शायद दो एक करोड़ लोग इधर आ जाए और इनको सिर्फ सात करोड़ वोट मिले क्यों क्योंकि पेड मीडिया इनके बारे में इनको काफी कवरेज दे रहा है तो कवरेज हिंदी में क्यों नहीं दिया क्योंकि जो हिंदू हिं, हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी है वो ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास में पढ़ा जाता है जहां पे कांग्रेस के बहुत सारे वोटर हैं मेजोरिटी कांग्रेस है और जो अंग्रेजी है वो अधिकतर मिडिल या अपर मिडिल क्लास में पढ़ा जाता है अंग्रेजी जो है जहां पे मोदी के वोटर 70, 80, 90 परसेंट है इसलिए यदि यहां यदि ज्यादा कवरेज दिया होता तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के वोटर इधर चले जाते 10-20 परसेंट जाएंगे कांग्रेस के वोटर पर मैक्सिमम डैमेज इसको हो इसलिए अंग्रेजी ने ज्यादा फोकस दिया हिंदी हिंदुस्तान टाइम्स ने कम फोकस दिया तो इनको कवरेज देने के पीछे कांग्रेस का गोल क्या है कि आपको हजार रुपए दो या दस हजार रुपए दो आप वोट इसी को दोगे लेकिन यदि कोई अच्छा आदमी या अच्छा दिखने वाला आदमी सामने रख दिया जाए तो वोट तोड़ने की संभावना बढ़ गई कि भाई रिश्वत नहीं लेता इनकम टैक्स में रहता तो करोड़ों कमा सकता था लेकिन उसने नहीं ली रिश्वत और वो फैक्ट है वो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली वो भी फैक्ट है मैं मानता हूं तो इसको प्रधानमंत्री या तो इसको एमपी बनाना चाहिए या तो इसके आदमियों को एमपी बनाना चाहिए तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर है जो 11 करोड़ लोग वोट देने वाले उनमें से दो एक करोड़ इसके वोट जाएंगे दो करोड़ वोट जाएंगे तो तीस चालीस सीट कम हो जाएगी या तो एंड में इनके जो स्पॉन्सर है मतलब इसके पीछे कांग्रेस नहीं है सीधा मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों बोलता हूं क्योंकि कांग्रेस है वो पूरी की पूरी बिक चुकी है वो सब्सिडरी हो चुकी है मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों की वही कंट्रोल करते हैं पूरी कांग्रेस को इसलिए कांग्रेस में झगड़े नहीं हो रहे जो कांग्रेस में झगड़े नहीं हो रहे उसका वजह यही है कि मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी के जो आदमी हैं वो सब डिसाइड करके भेज देते हैं कि ये आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा ये आदमी होम मिनिस्टर बनेगा और इन लोगों के को पास कोई पावर ही नहीं है न सुरपंखा गांधी के पावर पास पावर है न मनमोहन सिंह के पास पावर है और इसलिए इनमें कोई झगड़े होने के चांसेस ही नहीं है इसलिए जो स्पॉन्सर जो सुरपंखा गांधी के स्पॉन्सर है वही इनको स्पॉन्सर करें ताकि मैक्सिमम मिडिल क्लास वोटर के वोट कटे या तो एंड में 2014 में प्रेशराइज किया जा सके कि आप इतने इतने हमारे आदमियों को टिकट दो तो हम इनका कवरेज कम कर देंगे आपका कवरेज बढ़ा देंगे तो ये जो दो करोड़ वोट कट सकते हैं वो नहीं कटेंगे एंड में ये भी संभावना है कि शर्तें रख दे कि भाई जन लोकपाल कानून with no right to recall Jan Lokpal जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों को चाहिए ताकि सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देके वो भारत को कंट्रोल कर सके शरद रख दे मान लो इनके पास प्रेशराइज करके वचन ले ले कि भाई वो जन लोकपाल विथ नो तो right to recall Jan Lokpal pass करे तो हो सकता है कि ये अरविंद भाई मोदी साहब को एंड मोमेंट पे सपोर्ट कर दे तो दो करोड़ वोट जो कट सकते थे वो नहीं कटेंगे but at the cost political cost मतलब इनको प्रोजेक्ट करने का मकसद एक ही है क्यों अंग्रेजी अखबार इनको फ्रंट पेज पे डालता है उसी मालिक का हिंदी अखबार इनको पेज सिक्स पे भी एक चौथाई पेज ही देता है क्योंकि अधिकतर educated upper middle class middle class voter काटने और लोअर क्लास और लोअर क्लास से कम से कम वोट अरविंद भाई को जाए इसलिए इनको पेज सिक्स पे डाल दिया अब ऐसे पहले कहीं हुआ है तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं 2009 के इलेक्शन का मई 2009 में आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन था और लोकसभा का इलेक्शन भी था उस समय हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस के सबसे बड़े रिश्वतखोर हर तरह से हर एक क्राइम में इनका धंधा था mining crime real estate crime smuggling हर एक में नंबर वन और दूसरी तरफ बीजेपी के वेंकैया नायडू और चंद्रबाबा नायडू टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो कि कम खराब है ऐसा नहीं ये भी काफी भ्रष्ट आदमी है पर वाईएसआर रेड्डी से कोई तुलना नहीं कर सकता भ्रष्टाचार में तो बड़ी संख्या में लोग जो अच्छा शासन चाहते थे वो टीडीपी और वेंकैया नायडू को वोट देने के मूड में थे मिडिल क्लास वोटर जो कि एक अच्छी सरकार चाहता है कांग्रेस ने देखा कि किसी हालत में एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर को कन्विंस नहीं कर सकते कि वाईएसआर रेड्डी को वोट दो इसलिए कांग्रेस ने क्या किया कांग्रेस ने चिरंजीवी को खड़ा किया एक्टर है बहुत अच्छी इमेज थी इनके बहुत सारे मेडिकल ट्रस्ट चलते हैं गरीबों को दवाइयां फ्री में देते हैं हॉस्पिटल चलाते हैं तो बड़ी संख्या में मिडिल क्लास वोटर उन्होंने चिरंजीव को वोट दिया एक प्रजा राज्य पार्टी थे इनका नाम प्रजा पार्टी का नाम करोड़ों की संख्या में मतलब यूं समझो कि कुछ एका आंध्र प्रदेश अकेले आंध्र प्रदेश के एकाध करोड़ वोट जो कि इनको मिल सकते थे उनमें से सत्तर अस्सी लाख वोट इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गए इसकी वजह से इनको कुछ सीटें मिली वाईएसआर रेड्डी को बहुत ज्यादा सीटें मिली ये चीफ मिनिस्टर बन गए कांग्रेस को आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा एमपी आंध्र प्रदेश से मिले थे कांग्रेस को इन दोनों का पत्ता साफ हो गया एंड में क्या हुआ प्रजा राज्यम पार्टी पूरी की पूरी कांग्रेस में जुड़ गई 2011-12 के आसपास आजकल चिरंजीवी केंद्र सरकार में मिनिस्टर है एक जमाने में चिरंजीवी यही कहते थे जो अरविंद भाई बोलते थे कि कांग्रेस भी खराब है बीजेपी भी खराब है इनका मेन सूत्र क्या है कांग्रेस खराब है बीजेपी खराब है आम आदमी पार्टी अच्छी आम आदमी पार्टी को वोट दो एग्जैक्टली सेम डायलॉग चिरंजीव साहब 2008 में 2009 में बोलते थे कि बीजेपी खराब है कांग्रेस खराब है टीडीपी खराब है मेरी जो पार्टी बनेगी प्रजा राज्य पार्टी का नाम बाद में आता मेरी पार्टी बनेगी वो अच्छी पार्टी होगी वो करप्शन बंद कर दे खत्म करवा देगी गरीबी खत्म कर देगी वो सारे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही स्क्रिप्ट आज ये सब पढ़ रहे हैं कोई अंतर नहीं है ये तेलुगु में पढ़ रहे थे ये हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं फर्क इतना ही है आप यदि इनकी स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आप बता नहीं पाओगे कि यह स्क्रिप्ट चिरंजीव की है या अरविंद भाई की है same word to word same है और पूरा कांग्रेस ने खड़ा किया था पी शिवशंकरन आंध्र प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता थे उनके लड़के इनकी पार्टी का संचालन करते थे कैंपेन का संचालन करते थे तो इस तरह से वोट काटे वोट काटने का एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा वो है महाराष्ट्र का Congress plus NCP versus Shiv Sena versus BJP Congress plus NCP वर्ष से तो देखा कि भाई काफी सारे मराठी वोटर है वो शिवसेना बीजेपी को वोट देंगे इसलिए कांग्रेस ने एनसीपी को खड़ा सॉरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को खड़ा किया राज ठाकरे को हर तरह से इसको मदद की कैसे कि वहां पे महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम था कि यूपी बिहार से लोग एग्जाम देने आते थे रेलवे का और सरकारी नौकरियों का और उनको नौकरी मिल जाती थी तो उसकी वजह से जो मराठी युवक अनएम्प्लॉयड थे उनके मन में काफी गुस्सा रहता था तो शिवसेना के गुंडे गए वहां पे यूपी बिहार के लोग अच्छा काम किया ऐसा बिल्कुल नहीं है गलत ही काम किया पिटाई करने के पुलिस ने इनके गुंडों को पीट के जेल में बंद कर दिया फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना के गुंडे गए राज ठाकरे का फोटो लेके पुलिस ने उनको मारपीट करने दिया सब कुछ करने दिया टीवी पे भी दिखाने दिया कोई एक्शन नहीं लिया ताकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उभर के आए उस समय कांग्रेस के लोग केंद्र सरकार में थे और कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री में थे स्टेट गवर्नमेंट में यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जहां भी वो डेमोन्स्ट्रेशन करते थे तो उनको पूरा चांस दिया जाता था गुंडागर्दी करते थे तो, तो पूरा तो, तो बड़ी संख्या का जो मराठा यूथ है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास आ गया और इस तरह से बीजेपी शिवसेना के काफी सारे वोटर थे वो महाराष्ट्र निर्माण सेना में डाइवर्ट हो गए तो ये जो वोट काटने की टेक्निक है वो 800 साल पुरानी है कोई नई बात नहीं है और इसीलिए ये सारे नेता है वो preferential voting system preferential voting system मैंने चैप्टर 40 में डिस्क्राइब की है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये मेरा मैनिफेस्टो है राइट टू रिकॉल पार्टी का manifesto Rahul Mehta dot com slash three zero one पे और उसमें मैंने चैप्टर 40 में दिया है कि यदि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम आता है तो किस तरह से ये वोट कटने का पॉलिटिक्स तो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है लेकिन वो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम नहीं है एक आदमी के पास देने के लिए एक ही वोट है तब तक हमेशा किसी अच्छे आदमी को उभार कर किसी कम आदमी कम अच्छे आदमी को मतलब रिलेटिवली कम अच्छे आदमी के वोट काट के एकदम बुरे आदमी को फायदा देने का मौका मिल जाता है और उसके लिए एक ही गेम होता है कि मीडिया पेड मीडिया के द्वारा उस अच्छे आदमी को मतलब उसके बारे में कुछ पता नहीं है ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप को अच्छा साबित किया है चिरंजीव को जो लोग अच्छा आदमी कहते थे चिरंजीव को जो लोग अच्छा आदमी कहते थे वो सिर्फ उसके प्रभाव में आके कहते थे इन्होंने कभी कोई मिनिस्ट्री का संचालन नहीं किया था किसी जिले में कलेक्टर नहीं बने थे कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया हो ये साहब भी कहीं मुख्यमंत्री नहीं बने हैं उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छे रहे तो वहां कोई बड़ा तीर मारा ऐसी मैंने कोई खबरें नहीं पढ़ी कि उनके नीचे जो इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर करोड़ों कमाते थे या डेप्यूटी कमिश्नर करोड़ों कमाते थे उनमें से दस बीस को जेल भेजा हो या तो आ, किसी बड़े उद्योग गुरु जो कि करोड़ों की टैक्स चोरी करते हैं उनसे करोड़ों का टैक्स वसूला हो ऐसी कोई मैंने खबर नहीं पड़ी पर एक उम्मीद जो आदमी अच्छा चाहते हैं उसको झूठा झूठी उम्मीद दे सकते हैं तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा वोट कटने का पॉलिटिक्स जो कि आंध्र प्रदेश में सफल हुआ महाराष्ट्र में सफल हुआ और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा और वो टेक्निक यहाँ पे डाली जा रही है और उसका मैंने आपको बहुत सारे आपको मीडिया में एग्जाम्पल मिलेंगे जैसे इंग्लिश टीवी चैनल है आ, पेड आर्नब और अलग अलग पेड चैनल से टाइम्स हाँ तो वो आप देखो कि इनको बहुत कवरेज देते हैं और जो हिंदी चैनल है उसमें रिलेटिवली कवरेज कम आता है क्योंकि जो हिंदी चैनल है वो लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास ज्यादा देखता है अंग्रेजी चैनल है वो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास ज्यादा देखता है अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास में क्यों मोदी के चाहने वाले ज्यादा इसमें कोई पैसे और क्लास का मतलब नहीं है क्योंकि अपर क्लास और अपर मिडिल मिडिल क्लास है वो फेसबुक और सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्टेड है इसलिए उनको इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है बाकी जो लोअर क्लास है उसके पास अखबार और टीवी के पास माध्यम ही नहीं है वहां भी अब धीरे धीरे खबरें आ रही है लेकिन अब आ रही है पिछले एक एक दो साल में आ रही है तो रिलेटिवली वो कांग्रेस के वोटर है तो कांग्रेस के वोटर्स जितने हो सके उतने कम कटे पांच दस परसेंट कटे बीजेपी के वोटर फिफ्टी सिक्सटी परसेंट कटे उस गेम से अंग्रेजी अखबार इनको ज्यादा प्रपोजल दे रहे हैं अब इसके बाद का मेरा वीडियो आएगा मैं दो वीडियो टॉपिक को मिक्स नहीं करना चाहता कि भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे यदि वो बीजेपी के वोट काटते हैं तो भले काटे मैं तो कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूं मैं तो बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया मैंने और इस बार भी नहीं देने वाला क्योंकि वो राइट टू रिकॉल का विरोध करते हैं वेल्टेक्स का विरोध करते हैं यहां तक कि वो अब तो राम जन्मभूमि का भी विरोध करना शुरू कर देंगे कुछ दिनों में तो जितने मेरे मुद्दे उनमें से एक मुद्दे बीजेपी को अच्छे नहीं लगते बीजेपी के एक मुद्दे मुझे अच्छे नहीं लगते तो बीजेपी हारे कांग्रेस हारे मुझे कोई लेना देना नहीं है तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं ये पॉइंट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा धन्यवाद